ए लोगों अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ